फिर अगर तुम उसे मेरे पास ना लाए तो तुम्हारे लिए मेरे पास ना गल्ले का कोई पैमाना होगा और ना तुम मेरे करीब आना